सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर्वाच्यदोषी एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुखेन वाच्य वाक्य एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा जप करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वत नेतरेशा नित्यो नित्याना चेतन चेतना एको बहूना यो विदधा कामान समात्मस्थम जेनु पश्यंति धीरा तेसाम शांति शाश्वती नेतरेशा दृष्टांत क्रिया अग्नि का इस संसार में जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं उनमें अग्नि व्याप्त है अग्नि पदार्थ पदार्थ अलग अलग हैं अग्नि एक है लकड़ी कोई लंबी है कोई पोल है कोई चौड़ी है पर उसमें जलती हुई आग भी है ना अलग अलग दिखती हुई आग एक है ऐसे ये जो मनुष्य पशु पक्षी पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं इनमें एक ही निराकार सर्वभूतांतरात्मा व्याप्त है और व्याप्त होकर के जितनी दूर में ये है उतनी ही दूर में नहीं है बहिष्ठ इनसे बाहर है इनमें रहकर इनसे बाहर है माने ये जितने बड़े हैं उतना तो है ही इनके बाहर और अत्यतिष्ठत अत्यतिष्ठा वेद में आया कि परमात्मा हर चीज से दस अंगुल बड़ा है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज दिखती है वो किसी स्थान में दिखती है तो उसके चारों ओर आकाश और देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना घेरे रहती है उसको और जो भी पदार्थ दिखता है वो आगे पीछे वर्तमान के काल से घिरा हुआ दिखता है और जो भी पदार्थ दिखता है उसमें उसका रूप उसकी आकृति रूप जुदा चीज है और आकृति जुदा चीज है वो है ना तो नील श्वेत ये जो रूप है ना लाल लाल काला नीला सफेद ये रूप है और उसमें जो आड़ी टेढ़ी है ना वो आकृति बोल रहे आकृति और उनका फिर एक एक आकृतियों का भी अलग अलग नाम होता है एक एक रूपों का भी अलग अलग नाम होता है तो नाम अलग रूप अलग आकृति अलग उनका वजन अलग उनका स्थान अलग उनका समय अलग और वो सब मनी राम के पेट में ही दिखाई पड़ते हैं तो वेदांती लोग जरा आत्मा को बहुत विशाल मान करके अपने ही मनी राम के पेट में मानते हैं उसको दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं ना आभास कहो तब भी पेट में ही है तो कैमरे में जो आभास है बाह्य पुरुष का जो कैमरे में आभास है वो आभास तो अंतस्थ ही है ना और छेद भी अंतस्थ है दृष्टि सृष्टि भी अंतस्थ है प्रतिबिंब भी अंतस्थ है अणु भी अंतस्थ है मध्यम परिमाण भी अंतस्थ है विभू परिमाण भी अंतस्थ है एकता भी अंतस्थ है और अनेकता भी अंतर है सब तो नारायण ये मनी राम का ही खेल है तो जो लोग आत्मा को इतना बड़ा नहीं मानते वे ईश्वर के संकल्प में मानते हैं पर हर हालत में ये सृष्टि संकल्प में ही है ये बात नहीं बदलती जब आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाएगी तो जो परमात्मा के संकल्प में है वो अपने संकल्प में हो जाएगा ईश्वर आके हमसे मिल जाए तो जो हमारे संकल्प में है वो ईश्वर के संकल्प में हो जाएगा हम ईश्वर से मिल जाए तो जो ईश्वर का संकल्प है वो हमारा हो जाएगा और संकल्प शांत हो जाए तो अलगाव की खुर ही नहीं है और संकल्प उदय हो गए तो अलगाव की खुद ना मालूम पड़ेगी तो अब जरा प्रवेश वाली बात आपको फिर से दोहरा देते हैं और तो हमारे पुराने लोग जब गांठ लगाते थे ना कोई गांठ तो हमने अपने बाबा के मुंह से ही सुना था बचपन में जीर्बद्धम सुगद्धम भवती जो चीज दो बार बांट दी जाती है वो अच्छी तरह बांट दी जाती है दुर्बद्धम सुबद्धम भवते गांठ लगाना तो एक नहीं लगाना दो लगाना जिससे बात पक्की हो जाए हम पुस्तक बात कर पुस्तक वैकुंठते थे बांधना तो मना था जैसे पुस्तक को ये कपड़े में है ना लपेट के रखते हैं तो हम कहते हैं हम पुस्तक बांध देते हैं तो हमारे बाबा बोलते नहीं नहीं पुस्तक माँ भी नहीं जाते बैकुंठ ही जाते हैं माने बैकुंठ में इसकी स्थापना करते हैं वो बांधना बांधना नहीं बोलना बैकुंठ ना बोलना और जब लपेटते तो बोलते द्विर्बद्धम सुबद्धम ही जरा मजबूत हाथ से दो गांठ लगाओगे खुल न जाए नहीं तो खुले पन्ने की पुष्पोती महाराज बिखर जाए है ना पहले हम लोग खुले पन्ने की पोती से भागवत पढ़ते थे हमारे घर में संबत संबत सोलह सौ इक्कीस की लिखी हुई भागवत है संबत सोलह सौ सत्रह शताब्दी श्रीधरी टीका सहित महाभारत पत्रिका मनोरमा पत्रिका तो अब जरा प्रवेश पर विचार करो तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रावेश परमात्मा ने संसार की सृष्टि की नाम रूप की सृष्टि की और उसमें प्रवेश किया अब नाम रूप की सृष्टि की नाम रूपे करवाने नाम और रूप को व्याकृत किया व्याकृत किया माने विशेष विशेष आकार प्रदान किया जैसे हम राम शब्द को है ना व्याकरण की रीति से राम राम रामा है ना ये व्याकृति हो गई ना विशेष आकृति हो गई रामम राम रामान रामेण रामाय रामात रामस्य रामे ये क्या हुआ कि प्रथमा आदि में विशेष आकार प्रदान किया तो राम शब्द पहले से था तब हमने उसको विशेष आकार प्रदान किया है कि राम शब्द पीछे बना बोले भाई ये विभक्तियां तो तब आवेंगी जब पहले से राम शब्द होगा है ना लक्ष्यानुसारी लक्षण बने ऐसा तो जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो धातु की सृष्टि की कि केवल रामा रामो रामा जैसे रूप की सृष्टि होती है वैसे बना दे तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रावित है ना देखो अच्छा बोले पंचभूत की सृष्टि की ईश्वर ने ये तो मालूम पड़ता बोले अपने में ही की अपने से ही की कि किसी और से की है ना काहे का करनी काहे का भरनी है ना कबीर के शब्दों में आता है काय का ताना काय का बाना इस सृष्टि रूप वस्त्र का ताना क्या है बाना क्या है करनी क्या है भरनी क्या है तो जुलाई लोग कपड़े बीनते थे ना तो ये सवाल पैदा होता है तो असल में जैसे शुद्ध सोने ही सोना हो उसमें एक घर बनावे है और उसमें एक मनुष्य का प्रवेश दिखावे और तस्वीर देखने वाले लोग कहें कि ये मनुष्य घर में प्रवेश कर रहा है तो तो घर भी सोना मनुष्य भी सोना प्रवेश करना भी सोना है ना अलग अलग तो नहीं है सब एक ही वस्तु है तो ये परमात्मा सृष्टि बनाता है इसका अर्थ है अपने स्वरूप में ही सृष्टि की कल्पना करता है अपने स्वरूप में ही सृष्टि का संकल्प करता है, हैं? और उसमें प्रवेश का जो सिद्ध प्रवेश है न सिद्ध प्रवेश है उसी को प्रवेश के समान दिखाता है तत्सृष्ट सदैव अनुप्रावेशात तो घर में मनुष्य प्रवेश करता है अच्छा एक लोहे का गोला हो तो उसमें अग्नि ने प्रवेश किया बोले उस गोले में लोहे ने प्रवेश किया हे भगवान प्रवेश का अर्थ क्या है व्यापकता का अर्थ क्या है तो कहते हैं कि ये आदमी बड़ा व्यापक है वो मानो उसकी जान पहचान बहुतों से है जैसे किसी का नाम ले दें यहाँ बैठे हुए लोगों में कहिए महाराज बम्बई में बड़ी व्यापक हैं माने बम्बई में बहुत जान पहचान है यही ना अर्थ होगा तो ये जो शरीर है ये जो सृष्टि है सृष्टि का ब्रह्मांड गोल है कोटि कोटि ब्रह्मांड गोल हैं इनमें परमात्मा आग ने जैसे आविष्ट हो करके लोहे को व्याप्त कर दिया वैसे व्याप्त किया है? कि जैसे लोहे के गोले में लोहा व्याप्त है ऐसे परमात्मा ने प्रवेश किया बोले कि देखो लोहा दूसरी चीज आग दूसरी चीज दूसरी चीज में दूसरे ने प्रवेश किया तब उसका नाम प्रवेश हुआ तो वेदांती लोग तो मानते नहीं इस बात को वो कहते हैं कि अग्नि और लोहे में भेद ही नहीं है अग्नि ही द्रवावस्थापन्न होकर के एक विशेष काठिन्य को जब धारण करता है तब उसका नाम लौह होता है एक विशेष काठिन्य का नाम पत्थर होता है एक विशेष काठिन्य का नाम पृथ्वी होता है पर ये उपादान रूप से अग्नि सब में व्याप्त है इसलिए गोले में जैसे लोहा है ऐसे परमेश्वर समूची सृष्टि में व्याप्त है पर वेदांती लोग कहते हैं कि ये भी दृष्टांत जड़ पदार्थ का है चैतन्य पदार्थ की जो व्याप्ति है उसका दृष्टांत नहीं है व्याप्ति में तो दृष्टांत है परंतु चेतन की व्याप्ति और जड़ की व्याप्ति में जो विभेद होता है वो यहाँ किया हुआ नहीं है तो दूसरे ढंग से विचार करते हैं स्वप्न के गोले में स्वप्न की आग प्रविष्ट हुई भागती है परंतु वहां लोहे का गोला भी ज्ञानात्मक है और आग भी ज्ञानात्मक है और उसका परस्पर अनुप्रवेश जो है ना जो लोहे में अग्नि का जो अनुप्रवेश है तो वो अनुप्रवेश भी ज्ञानात्मक ही है तो जड़ का जड़ में प्रवेश उपादान रूप से होता है और जड़ में चेतन का प्रवेश या तो निमित्त कारण रूप से होता है, है? और या तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से होता है तो यदि निमित्त कारण के रूप में प्रवेश हो तो परमात्मा के सिवाय पहले से दूसरी वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी वो ब्रह्म विद्या के प्रसंग में वो बात नहीं आवेगी ईश्वर की विद्या ईश्वर विद्या है जीव विद्या है जगत विद्या है जैसे डॉक्टरी अलग है इंजीनियरिंग अलग है वकालत अलग है तो हम तो अद्वैत ब्रह्म के निरूपण वाली जो विद्या है प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व को का निरूपण करने वाली जो विद्या है उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं तो वो ब्रह्म विद्या का निरूपण नहीं होगा तो व्याप्ति कैसी है ये विचार हुआ ना प्रवेश कैसा है प्रविष्ठा प्रविष्ठा पद का क्या अर्थ है तो बोले भाई यदि निमित्त कारण के रूप में व्यापक निराकार असंग ईश्वर लोहे के गोले में स्थित है तो परमाणुओं से बना हुआ लोहे का गोला अथवा प्रकृति के विकार से बना हुआ लोहे का गोला है और उसमें तटस्थ अथवा निमित्त कारण रूप कोई कोई ईश्वर को तटस्थ मानते हैं कोई निमित्त कारण रूप मानते हैं ईश्वर उसमें घुसा हुआ है आकाश की तरह तो ये व्यापकता दूसरी हुई और अद्वैत वेदांत में जिसका निरूपण करते हैं वो है है ना कारण में कार्य की व्यापकता नहीं अथवा कार्य में निमित्त कारण या तटस्थ की व्याप्ति नहीं अभिन्न निमित्तोपादान कारण की व्याप्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने स्वयं उपादान है और स्वयं निमित्त है स्वयं कुम्हार है और स्वयं माटी है माने चैतन्य है सर्वज्ञ है सर्वज्ञ भी वही है सर्वशक्तिमान भी वही है सर्व रूप भी वही है तो सर्व रूप में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ की जो व्याप्ति है वो तो अभेदेन व्याप्ति होगी न उसमें माया न उसमें छाया तो बोले भाई आओ और थोड़ा विचार करें जड़ रूप से प्रतीयमान जो प्रपंच है इसमें चेतन यदि अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से व्याप्त है तो चेतन परिणामी होकर व्याप्त है कि विवर्ती होकर व्याप्त है चेतन वो होता है जो परिणाम का भी साक्षी होता है बदलना जिसको मालूम पड़ता है ये हुआ और बदल गया ये हुआ और बदल गया ये हुआ और ये बदल गया तो वही बदल रहा है और वही बदलना देख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एक हिस्से से वो बदल रहा है और एक हिस्से से देख रहा है एक रूप से उसमें भी भेद होगा बोले नहीं वो बदलता नहीं बदलता तरीका भाग रहा है तो विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से जो ब्रह्म की प्रपंच में अवस्थिति है उसी को प्रविष्ट कहते हैं वो प्रपंच की दृष्टि से प्रविष्ट है और ब्रह्म की दृष्टि से स्वयं स्वयं है वहाँ प्रविष्टानुप्रविष्ट का किसी प्रकार का भेद नहीं है स्वयं ब्रह्म ही है तो पदार्थ की दृष्टि से तत्व की दृष्टि से जिसमें सब नाम सब रूप सब आकृति सब कर्म जिसमें अध्यारोपित होते हैं और जिससे अपवादित होते हैं और जो स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक है ना सर्वाधिष्ठान अद्वितीय प्रत्यक्ष स्वरूप है तो उसको ब्रह्म बोलते हैं अब जरा <clears throat> एक दृष्टि से इसका विचार और कर लेते हैं ये जीव का जो रूप है उसको जो लोग नहीं मानते हैं उनका तो छोड़ दो बोला हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो जीव को नहीं मानते हैं वो हाँ, जीव को नशा कुमारी जैसे होती है ना ऐसे चार भूतों चार भूतों के मिश्रण से एक प्रकार की मद शक्ति पैदा हो जाती है जब तक उस अनुपात में चार भूत मिले हुए हैं तब तक वो मद शक्ति है उसका नाम जीव है और वो बिखर गया हमारा चार भूत बिखर गए उनका अनुपात भंग हो गया जीव चेतना भी समाप्त हो गई ऐसे लोग सेंद्रिय को जीव और निरिंद्रिय को जड़ मानते हैं माने निरिंद्रिय जड़ तत्व में जब कालक्रम से कभी इंद्रियों का मन आदि इंद्रियों का प्रकाश हो गया तो उसका नाम जीव हो गया और यदि मन आदि इंद्रियों का प्रकाश नहीं हुआ तो उसका नाम जड़ हुआ इंद्रियों के प्राकट्या प्राकट्य भेद से इंद्रियों के प्रकाशात प्रकाश भेद से जड़ की ही एक अवस्था का नाम वो चेतना मानते हैं जीव मानते हैं सीताराम तो उनकी तो चर्चा ही छोड़ो जिनके मत में चैतन्य एक स्वतंत्र धातु है वो तीन प्रकार से मानते हैं अणु रूप से विभू रूप से नारायण है और मध्यम परिमाण रूप से जैन मत में देश और द्रव्य दोनों रीति से जीवात्मा का परिच्छेद माना जाता है नारायण परंतु काल की दृष्टि से आत्मा का परिच्छेद नहीं माना जाता होता नित्य है जीवात्मा वो कभी हाथी के शरीर में गया तो हाथी के समान हो गया चीटी के शरीर में गया तो चीटी के समान हो गया है ना है तो वो भी मध्यम परिमाण लेकिन काल परिच्छिन्न न मान करके भी देश परिच्छिन्न और द्रव्य परिच्छिन्न द्रव्य जीव द्रव्य ही मानते हो जीव को द्रव्य ही मानते हैं जीव पुद्गल होता एक पुद्गल शरीर है और एक जीव द्रव्य एक अजीव द्रव्य एक जीव द्रव्य बौद्ध मत में जीवात्मा को काल परिच्छिन्न भी मानते हैं बोला विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान है क्षणिक विज्ञान संतान वो काल परिच्छिन्न भी मानते हैं देश परिच्छिन्न मतलब काल परिच्छिन्न मान लिया तो देश परिच्छिन्नता और द्रव्य परिच्छिन्नता अपने आप ही आ गई बोला और चार लाख लोग जो हैं नारायण वो तो द्रव्य का कार्य मानते हैं हाँ। इसलिए जीव को द्रव्य परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न तीनों मानते हैं अब बौद्ध में और चारदाक में अंतर क्या है कि विज्ञान संतति का प्रवाह मानने के कारण बौद्ध और जीव की नित्यता मानने के कारण जैन ये दोनों पुनर्जन्म तो स्वीकार करते हैं चार बार पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते अब ये जो जीवात्मा के स्वरूप को मानने वाले हैं देखो जीवात्मा यदि अणु है तो वो आकाश में उड़ने वाला जुगनू के समान होगा तो आकाश में उसकी उत्पत्ति और प्रलय मानना पड़ेगा बोला एक बात अणु होने से वो दृश्य होगा तो जड़ मानना पड़ेगा हम सेंद्रियत्व को चैतन्य नहीं मानते गोविंद हम दृष्टा को चेतन मानते हैं दृष्टा का नाम चेतन है इंद्रिय का नाम चेतन नहीं है गोविंद आप देखो तो एक देश से दूसरे देश में उड़ना एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होना और दृश्य होने से जड़ होना और परिवर्तनशील होने से काल परिच्छिन्न होना इसलिए जीव में जो अणुत्व है हाँ, वो परमाणुओं के समान चेतन में अणुत्व की सिद्धि नहीं होती क्योंकि मैं वो हूँ जो अणुता का दृष्टा हूँ मैं वो हूँ जो मध्यम परिमाण का दृष्टा हूँ मैं वो हूँ जो अनेक विभू का दृष्टा हूँ देश का भी दृष्टा और काल का भी दृष्टा इसलिए आत्मा का जो प्रवेश है वो अणु रूप से एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं है और मध्यम परिमाण तो अंतकरण के साथ तादात्म्य होने के कारण मालूम पड़ता है कि शरीर भर का आत्मा है यदि अंतकरण से तादात्म्य न हो तो मध्यम परिमाण भी नहीं मालूम पड़े और विभू हो करके जो अनेकता मालूम पड़ती है हैं? विभू हो करके जो अनेकता मालूम पड़ती है वो प्रकृति में जो जन्म है प्रकृति में जो मृत्यु है प्रकृति में जो करण है, हैं? प्रकृति में जो प्रवृत्ति है प्रकृति में जो गुण विपर्जय है ये प्राकृत धर्मों का विभू दृष्टा पर अध्यारोप करके सांख्य ने प्राकृत पदार्थों में होने वाले जन्म मरण करण को आत्मा में मान लिया ये तो हेतु ही सर्वथा असिद्ध है कि जन्म मरण करण हो प्रकृति के और वे विभू आत्मा को अनेक बनाए दें पुरुष बहुत्वम सिद्धम हाँ। तो वो जो पुरुष बहुत्म सिद्धम उनका है वो तो हेतु सर्वथा असिद्ध है तब प्रवेश का अर्थ क्या हुआ <clears throat> देखो आत्मा न अणु है क्योंकि ये दृश्य नहीं है दृष्टा है ये परिच्छिन्न नहीं है परिच्छेद का भी दृष्टा है ये आकाश रूप आधार में उड़ने वाला कोई खद्योत नहीं है है ये स्वप्न में आकाश को बनाने वाला है तो ऐसा जो चैतन्य है जब विभुत्व में अनेकता का हम प्रतिवाद करते हैं निराकरण करते हैं तो अनेकत्व रहित जो विभुत्व है वो आत्मा का स्वरूप है अनेकता से रहित विभूता सांख्य का भ्रष्टा तो आत्मा का स्वरूप है परंतु प्रत्येक अंतकरण में अलग अलग दृष्टा नहीं है एक ही अद्वितीय दृष्टा है और उस दृष्टा की अद्वितीयता में वाम मन मनसा गोचर वाणी और मन के अभिषय और वाणी मन के प्रकाशक अनिर्वचनीय दृष्टा आत्मा की अद्वितीयता में द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है क्योंकि उसमें द्वैत को रहने के लिए काल ही नहीं है उसमें द्वैत को रहने के लिए देश ही नहीं है क्योंकि उसमें द्वैत को रहने के लिए कोई बीजात्मक जड़ सत्ता ही नहीं है इसलिए अद्वितीय ब्रह्म तत्व है तो ये प्रवेश का जो वर्णन है ये प्रवेश का जो वर्णन है वो सिद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ज्ञान कराने के लिए अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से है पहले हाँ, पहले अनेक में एक के प्रवेश का अध्यारोप करके अनेक के मिथ्यात्व का निश्चय कर देते हैं और एक जो है पारमार्थिक सत्ता जो है आत्मा की वो स्वतः सिद्ध रहती है अब दूसरी दृष्टि से इस बात पर विचार करते हैं दुर्जसैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव प्राण वायु वायु जो है वायु तो सारे कमरे में इस हाल में एक ही है ना वायु जता एक कहा एक ही एसी व्यापनोती एसी गच्छति अधीयते नारायण तो एक एण धातु है एक इंग धातु है बोला तो ये एण धातु का रूप है एसी एक एका सब में व्याप्त हो उसको एक कहते हैं यथा एक संख्या सर्वासु संख्यासु व्याप्ता भवती जैसे एक संख्या सब संख्या में व्याप्त होती है इसी प्रकार सृष्टि का जो मूलभूत तत्व अपने संपूर्ण कार्यों में अनुगत रहता है उसको एक कहते हैं गर्भ समवर्तकाग्रे भूत से जाता पतिरेक आसीत एकम संतम बहुधा कल्पयंती एकम साग विप्रा बहुधा बदंती एकम संतम बहुधा कल्पयंती वही एक जो वस्तु है ना वो एक है अब वायु देखो बोले वायु तो एक है लेकिन सबका जो भीतर की जो भावकनी है ना सबके शरीर में वो अलग अलग वायु को पकड़ करके बैठी है सांस निकलती है बाहर पर निकल नहीं जाती फिर खींच आती है खींच आती है लेकिन सिर्फ खींच नहीं आती फिर निकल जाती है पास तो वही है हमने देखा है छोटे छोटे कीड़ों के जो वो अंडे होते हैं और फूटते ही हो अंडा फूटा और उसमें से जो प्राणी निकलता है वो तुरंत फूलने पटकने लगता है फूलने पर सांस लेता है वो सांस श्वास आने जाने लगते हैं तो सबके शरीर में श्वास का पृथक पृथक केंद्र होने पर भी सबके शरीर में श्वास का अलग अलग गोलक होने पर भी वायु तो एक है और वायु जो है आज धुएं में चीटी में या चिड़िया में और क्या पशु में और क्या मनुष्य में केवल प्राणी जो दिखते हैं उन्हीं में नहीं ये जो पौधे बढ़ते हैं ना जैसे चना बोते हैं तो उसमें से अंकुर ऊपर को निकलता है या आम का पौधा लगाते हैं तो उसका पेड़ ऊपर को बढ़ता है या उसकी जड़ नीचे को जाती है ये क्या है तेजती निस्त्रता हाँ। ये प्राण का ही कंपन है अच्छा हम चलते हैं तो हवा के बिना चलने की क्रिया हो सकती है हम हाथ उठाते हैं तो हवा के बिना क्या हाथ की क्रिया हो सकती है डकार आती है हिचकी आती है धड़कन चलती है हमारे तो पहले कोई पागल हो जाता था तो कहते थे कि वायु बढ़ गई है और किसी को लकवा लग जाता था ना पक्षाघात हो जाता था हैं? बोले वायु लग गई वायु लग गई है वो ये सब वायु के ही भेद है उनचास वायुओं का नाम तो आपने सुना ही होगा ना मरुद मरुदगा वायु एक नहीं होती है पांच प्रकार के तो प्राण होते हैं पांच प्रकार के अपान होते हैं उनचास प्रकार की वायु होती है ये कैसे होते हैं तो उपाधि भेद से बोला ज्ञान उदान समान प्राण अपान हाँ, ये वायु के भेद हैं प्राण के भेद हैं कृकलास देवदत्त धनंजय है ये सब जो है ये अंतर वायु के ये जो फड़कता है ना कभी हमारी नस फड़कने लगती है ये आंख की पलक उठती गिरती है ये शरीर में वायु अनेक क्रिया कर रही है और ये सारे भुवन में प्रविष्ट है जहाँ गति है वहाँ वायु है जहाँ शब्द है वहाँ भी वायु है हे भगवान अब बोलो जहाँ गर्मी है वहाँ भी वायु है जहाँ ठंडक है वहाँ भी वायु है जहाँ शब्द है वहाँ भी वायु है, हे भगवान अब बोलो जहाँ गर्मी है वहाँ भी वायु है जहाँ ठंडक है वहाँ भी वायु है जहाँ स्पर्श है वहाँ भी वायु है बहिस्पर्श में भी वायु है और अंतस्पर्श में भी वायु है हाँ, पृथ्वी वायु से टिकी है जल वायु से बहता है अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है प्राणियों के शरीर में जितनी नीचे गिरने की ऊपर उठने की बाएं चलने की दाहिने चाल चलने की आंतर बाह्य जितना भी संग होता है जितना भी हिलना चलना होता है जितनी भी क्रिया होती है सब में वायु मौजूद है अब छोटा वायु और बड़ा वायु ज्ञान वायु उदार वायु मतलब रूपम रूपम उपाधि के भेद से एक ही वायु अनेक रूप इस भुवन में देखने में आता है भुवनम प्रविष्ट वह प्रविष्ट वनम प्रविष्ट आपको तो मालूम होगा जैसे जूही होती है ना जूही या इमली इमली के पत्ते पर वायु लगे तो कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी आप पीपल के पेड़ के नीचे कभी रात को सोइए वो तो खड़कर होगा हो खड़कड़ होता है पीपल का पत्ता सबसे ज्यादा आवाज पीपल का पत्ता करता वो हिला रहा है वो कड़े कड़े होते हैं ना पत्ते कड़े कड़े होते हैं तो आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है अच्छा उसमें चमक भी होती है कहीं से रोशनी पड़ जाए पीपल के पत्ते पर तो वो चमकती है तो पीपल के पत्ते में भी वही वायु और वो आप जान रहे हैं छुई मुई हमारे गांव में छुई मुई बोलते हैं उसको लज्जावंती लज्जावंती जरा सा छू दे सिकुड़ जाए ये क्या चीज है ये सब वायु की करामात है ना वायु की एक ही वायु लज्जावंती में दूसरा बड़ा दिखता है और पीपल के पत्ते में दूसरा बना दिखता है पीछे बैठ कर जीव को हिला रहा है, मन मनस कायाग्निमांति सब प्रेरयति मारुतम मारुत सूरति चरण मंत्रम थे स्वरम वही भीतर शब्द को उत्पन्न करता है स्वर को उत्पन्न करता है देखो अपना आपा होने से अपने अपने स्वर में सबको बड़ा वो होता है हाँ। चाहते हैं कि हमारा गाना हमारे कान में खूब पड़े और जितना मीठा हमको लगता है उतना दूसरों को भी लगता होगा ऐसा सोचते हैं लेकिन वो तो सबको अपना अपना गाना अच्छा लगता है देखो व्याख्यान देने में अगर बालक हो गए ना बालक पहले दर्जा चार में पढ़ने वाले मिडिल में पढ़ने वाले बालक हाँ, आश्रम में आते थे उड़िया बाबा जी बैठे हैं हरि बाबा जी बैठे हैं आनंदमयी माँ बैठी हैं तो लोग अपने बच्चे को ला के बोलते तो महाराज इसका थोड़ा व्याख्यान करवा दे बड़ा प्यारा लगता है मीठा लगता है क्योंकि उसमें ममता है क्योंकि उसमें अहंता है क्योंकि उसमें आत्मीयता है निज कवित्व के लागन का देखो साधु ये गरुआ कपड़ा पहने और तुरंत व्याख्यान उपदेश करने लग गए और तो चाहे कुछ मालूम हो चाहे न हो साधना की हो कि न होना की हो तो ये वायु देवता जो है ना ये बोलने के लिए भी वायु बढ़ती है जिस दिन गाने वाले को गाने को न मिले और व्याख्यान देने वाले को व्याख्यान न मिले उस दिन उसकी वायु बढ़ जाती है ना पेट पेट उसका फूलता है वो कि आज कुछ गाने को नहीं मिला आज कुछ बोलने को नहीं मिला उसका पेट फूलता है तो वायु तो एक ही है लेकिन किसी के पेट में वो फूलता है किसी के पेट में पटकता है कहीं अपान वायु बन के निकलता है कहीं सांस बन के चलता है कहीं पेड़ को हिलाता है कहीं आग को जलाता है, है कहीं चीटे माटे में होता है और कहीं महाराज है ना ब्रह्म का यक्ष का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है और वेद ने स्वयं प्रत्यक्षम ब्रह्मा जी का है ना परंतु ये वायु दृष्टांत है दृष्टांत रूपम रूपम अलग अलग शरीर में अलग अलग रूप में और वैसा वैसा मालूम पड़ता है बोले एक तथा सर्वभूतांतरात्मा ये सर्व जो मालूम पड़ता है जो पैदा होता है और मिटता है जो भागता है और नहीं भागता है जैसे स्वप्न भागता है और स्वप्न नहीं भागता है सुसुप्ति भागती है और नहीं भागती है और जागृत भागती है और नहीं भागती है ये तो लोग तीनों अवस्था का विचार नहीं करते ना डरते हैं और जान हमको सपना और सुसुप्ति के बारे में विचार करने की क्या जरूरत है बोले बुद्धि कमजोर है तो जिसके पास विचार की शक्ति है वो किसी भी वस्तु पर विचार करने से कतराएगा क्यों है ना अरे आओ भाई है ना दस मिनट इसके बारे में भी सोच लें विचार से कतराना ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है और तो इस पर भी विचार करना तो सर्वभूत अंतरात्मा सर्वभूत का अंतरात्मा है तो बोले भाई घड़े की अंतरात्मा कौन का मिट्टी कहने कौन सी मिट्टी कार्य मिट्टी की कारण मिट्टी बोले कारण मिट्टी कौन सी होती है जो घड़ा बनाने के पहले कुम्हार मिट्टी का लोला बना के रखता है चाट पर वो कारण मिट्टी और घड़े की शक्ल बन जाने पर कार्य मिट्टी बोले कि भले मानोस जिसने वो लोगा न देखा हो उसके लिए तो वो कारण और ये कार्य कहाँ से ज्ञान होगा कारणत्व तो जो है वो स्मृति मूलक है वो और कार्यत्व तो जो है वो कल्पना मूलक है असल में तो मिट्टी है मिट्टी है अधिष्ठान उसमें कारण लोदे की आकृति कल्पित हुई और उसमें कार्य घट की आकृति कल्पित हुई तो कारण भूत वो पिछड़वत और जठरवत जो मृतिका है नारायण उसमें पिछड़ और जठर पेट है ना और उसका जो कपाल है खोपड़े हैं ये सबको दिखाई पड़ते हैं असल में मिट्टी जो पहले थी सो अब है मृतिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर उसमें मिट्टी में कारणपना भी नहीं है और कार्यपना भी नहीं है अधिष्ठान के जाथात में से कारणपना और कार्यपना दोनों का बाद हो जाता है ये जगत पहले अव्यक्त था और अव्यक्त हुआ है ये तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के हिसाब से बोलते हैं काय को डरते हो सपने तो और सुसुप्ति का विचार करना है ये तीनों प्रतिभास हैं जिस ज्ञान को जागृत दिखता है जिस ज्ञान को स्वप्न दिखता है जिस ज्ञान को सुसुप्ति दिखती है हैं? वो ज्ञान तुम हो और जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये आंख मिचौनी खेलने वाली है ना आंख मिचौनी खेलने वाली ये भूत प्रेत पिशाच जैसे दिखते हैं ना जंगल में ऐसे दिखने वाली चीज है जागृत स्वप्न सुसुप्ति हाँ। न ये नित्य हैं, न ये सत्य हैं, न ये सार्वदेशिक हैं, न ये सार्वकालिक हैं, न ये सार्वजनिक हैं। तो नारायण इनके चक्कर में क्यों पढ़ना भूतांतरात्मा देखो स्वप्न जैसे स्वप्न में हजार घड़े में हजार आकाश हजार भौकनी में हजार वायु हजार स्त्री पुरुष की हजार सांस मालूम पड़ती है इसी प्रकार जागृत में जागृत में ये हजार हजार व्यक्ति तो मालूम पड़ते हैं इसमें व्याकृत अब व्याकृत की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है अब व्याकृत कल्पना कारण कल्पना है और व्याकृत कल्पना कार्य कल्पना है व्याकृत माने जिसमें विशेष आकृति बन गई और अब व्याकृत माने जिसमें विशेष आकृति नहीं बनी लेकिन विशेष आकृति बनी कि नहीं बनी ये प्रश्न नहीं है प्रश्न तो चैतन्य के प्रकाश का है प्रश्न तो सत्ता की उपस्थिति का है तो वो सच्चिदानंद ज्ञान सत्ता जो है वो कारण बने कारण होवे चाहे न होवे और कार्य बने चाहे न बने तो वो तो बिल्कुल एक तरीका है तो रूपम प्रतिरूपो और केवल कार्य कारण देश केवल कार्य कारण काल केवल कार्य कारण द्रव्य यही उसका स्वरूप नहीं है कार्य कारण द्रव्य कार्य कारण काल और कार्य कारण देश फिर फिर देश मिट्टी के लूदे का काल और घड़ा बनने का काल कार्य कार कार्य काल कारण काल और कारण देश अंतरदेश और कार्य देश का बहिर्देश और कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य ये एक ही स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये छह जुगल ये तीन जुगल माने छह पदार्थ बिना हुए अनहुए कल्पित होते हैं तब ये तो इनसे बाहर भी है कार्य कारण देश के बाहर माने लंबाई चौड़ाई की कल्पना का आदर हाँ, कार्य कारण काल से बाहर माने प्रलय काल और सृष्टि काल से बाहर और नारायण लीन स्थिति और प्रकट स्थिति द्रव्य की दोनों दशा से बाहर ये अपना आत्मा ये अपना स्वरूप अपना स्वरूप है सूर्यो अब ये क्रिया के द्वारा बताया इसका देखो अग्नि के द्वारा ये बताया कि पदार्थ चाहे कोई भी हो परमात्मा ही है और वायु के दृष्टांत से बताया कि क्रिया चाहे कोई भी हो परमात्मा ही है और आगे बताते हैं कि ये कर्म के जो फल हैं सुख दुख और पाप पुण्य और राग द्वेष ये आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते हैं हम जोड़ लें कि हम पापी पुण्य आत्मा तो हमारे स्वातंत्र में इसका भी सन्निवेश है ना कैसे स्वातंत्र में कैसे सन्निवेश है एक समझो कि मिनिस्टर है उसको मालूम हुआ कि जेल में कैदियों को बड़ा दुख होता है उसने कहा कि अब हम चल के जेल में रहेंगे हमारे वहाँ रहने से कैदियों का दुख दूर हो जाएगा तो ये स्वातंत्र मिनिस्टर में है बोला हमारे राजा जनक का दृष्टांत आता है युधिष्ठिर का दृष्टांत आता है उनसे कोई गलती हुई थी जमराज के दूतों ने कहा कि इसका फल भोगने के लिए तुम्हें थोड़ा दुख मिलना चाहिए तो वह दुख मिलेगा बोले नरक के रास्ते तुमको ले चलेंगे दोनों के जीवन में कथा है युधिष्ठिर को भी और जनक को भी तो नरक के रास्ते ले गए अब वो महाराज नरक में जो जीवात्मा थे वो नारा लगाने लगे हैं जाओ यही रहो मत जाओ हैं हाँ। ने जनक ने पूछा कि क्या बात है बोले नारकी जीव नारे लगा रहे हैं महाराज कि आप लोग भी यहीं रहो तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है बोले तो बात यह है कि आप जब यहाँ से निकले हैं तो आपके शरीर की सुगंध हाँ, पुण्य की हवा नरक में पहुंच गई और उनको सुख मिला है तो कहते हैं तुम यहाँ रहोगे तो हमको सुख मिलेगा तो जनक ने कहा कि फिर तो हम यहीं रहेंगे हम स्वर्ग वर्ग में नहीं जाएंगे अगर हमारे यहाँ रहने से इनको सुख मिलता है तो हम नरक में ही रहेंगे तो अब न जनक में स्वातंत्र हो कि नरक में रहे युधिष्ठिर में स्वातंत्र है बैठ गए नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे तो स्वातंत्र है ना तो ऐसे ये जो आत्मदेव हैं ये इतने स्वतंत्र हैं कि अपने तो यदि ये पापी मानना चाहें तो उसको कोई रोकता नहीं है बोला स्वतंत्र है कि अपने को रागी द्वेषी मानना चाहे तो कोई रोकता नहीं है यद्यपि है सत्य के बिल्कुल विपरीत है ना यदि अपने को दुनिया में भोग मिलने से सुखी और भोग न मिलने से दुखी मानना चाहे तो इनको कोई रोक नहीं सकता लेकिन असल में ये जथा यथा सर्वलोकन से चक्षु न लिप्यते चाक्षुषर्वाज्य सही ये अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करके दुखी हो रहे हैं यदि अपने स्वातंत्र का सदुपयोग करें तो अभी इसी क्षण ये संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकते हैं छूट सकते हैं क्योंकि इनका सहज स्वभाव जो है वो छूटना है अब देखो हमारे हरकृष्ण दास जी आ गए हैं है?